ताकि हमने उसे जो नेमत दी थी उसकी नाशुक्री करे अच्छा कुछ ऐश कर लो फिर अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा